माय हुतात वचन मम पेली निश्चर निकर फिर मम मन सीतायाश्रम नाई कही पद कमल अनुज कर जोरी गय उनाथ कछु मोहिन खोरी अनुज समेत गए प्रभुता गोदावरी तट आश्रम जहवा आश्रम देख जान की हीना भय विकल जस प्राकृत दीना गुण खान जान की सीता शील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समुझाए बहुवाती

कमल शरद शशि भामिनी वरुण पास मनोज धनु हंसा गज की हरि निज सुनत प्रशंसा

सकल पाए जन राजू किम सही जात अनख तो ही पाई या बेग प्रगट सुखस नाही यही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनौ महाविरही यति कामिनी पूरन काम राम सुख स्वरासी मनोज चरित कर जय विनाशी आगे परागीत पति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर निरखि राम पीर जी सीता जी गई तो उन्होंने मार्ग में अपने कुछ वस्त्र और आभूषण वहाँ बालों के पास गिरा दिए और राम ने उनको ले गया और लंका में जा करके अशोक वाटिका में रखा अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी जो है भगवान का स्मरण करती रहती हैं जिस रूप में भगवान राम माया मृत के पीछे भागे थे उसी रूप का स्मरण करते हुए सीता जी वहाँ वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और उनका भगवान का नाम जपती रहती हैं और प्रार्थना करती रहती हैं कि भगवान हमारी रक्षा करो हमारा उद्धार हो रावण की चंगुल में आ गई यहाँ से हमारा छुटकारा हो दुख दूर हो इस प्रकार से प्रार्थना करती रहती हैं वहां तक तो वो कथा पूरी हो गई अब यहाँ देखो क्या हुआ मारिच को मार करके भगवान तो जल्दी लौट पड़े थे वहां से और फिर जब चले तो आगे देखा कि तुम तो लक्ष्मण जी आ रहे हैं अपने पास ही तो रघुपत अनुग्रही आवती देखी तो भगवान श्री राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी तो सीता जी को छोड़ करके चले आ रहे हैं तो बाही जी चिंता की विशेखी तो भगवान राम ने बड़ी चिंता प्रकट की बाहिज के माने है वायु हिंदी में संस्कृत में कहते हैं वायु वायु मैंने बाहरी <clears throat> वाही का हो गया बाहिक हाँ, मैंने बाहरी चिंता की बाहरी चिंता के मैंने लक्ष्मण जी को प्रकट रूप में तो ऐसे दिखाया कि भगवान राम बड़े चिंता में पड़ गए हम्म, लेकिन उनके मन में तो वो ही कर रहे थे उन्होंने तो पहली तैयारी कर रखी थी सीता जी को अग्नि में प्रवेश करो रामा आएगा हरण करेगा तो वो तो सब जानते ही थे भगवान सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वो सब जानते हुए भी लक्ष्मण जी से ये नहीं कहा लक्ष्मण जी से क्या अरे हमें मालूम है आप चलो अब सीता जी कारण हो गया होगा तो उनका तलाश करना पड़ेगा ऐसे करके नहीं कहा तो ये उससे कहा करे लक्ष्मण तुम कैसे चले आए हम्म, वहाँ तो बड़ी मुश्किल बात पड़ गई अब तो जनक सता पर हरिओ के लिए तुम सीता जी को वहां छोड़ करके घर वहां पर आश्रम चले आए तुम तो, आयो तात वचन मन के लिए और दूसरी हमारे हमने जो बात तुमसे कही थी कि इनकी देख रेख करना या अनुशासक लोग रहते हैं उनको ध्यान रखना तुम नहीं तो ये जो है ये सीता जी का यहाँ पर निशाचर आमेंगे या कोई और बंद पशु आमेंगे तो अपनी बुद्धि बल से विवेक से उनकी इनकी देखभाल करना लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना तुम चले आए निश्चर निकर फिर बन माही बन में तो कितने निकरण समूह अरे तमाम तमाम राक्षस तो हर समय घूमते ही रहते हैं उनका कोई ठिकाना निश्चर निकर फिर नहीं बन माही और मम मन सीता नाही मम मन के माने मेरा अनुमान है मेरा अनुमान है क्या बस अब तुम आए नहीं कि सीता जी अब वहां आश्रम में होंगी नहीं निशाचर खा लेगा तो ऐसे भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा और बड़ी चिंता के साथ में कहा तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा अब देखो हर बात ध्यान देने की है केवल कथा ही कथा नहीं और लक्ष्मण जी को तो सीधे कहना चाहिए कि हम क्या करें अब जब सीता जी जब इस प्रकार से कहने लगी हमसे मरम बचन और जबरदस्ती करके हमें भेजा तो हमें आना पड़ा जी कहना चाहिए था लेकिन नहीं कहते ऐसे कहते कैसे हैं कि गई पद कमर अनुज कर जोड़ी लक्ष्मण जी ने भगवान राम के पहले जो चरण पकड़ी मैंने जैसे अपनी ही गलती को क्षमा मांग रहे हैं और हाथ जोड़े और कर भगवान से कहा कि कहे नाथ कछु मोही न खोरी कि भगवान इसमें हमारा कोई दोष नहीं है और लक्ष्मण जी कहते हैं हमारा इसमें कोई दोष नहीं है तो फिर अब भगवान राम भी नहीं पूछते किसका दोष है हा? माने इसमें इम्प्लाइड है माने बात कैसे बोली जाती है वो भी देखो एक तो एक तो असभ्यता की बात है कि फटाफट दोष लगाते चले जाओ फटाफट बोलते चले जाओ निर्लज होकर करके और एक सभ्यता का तरीका बोलने का है अब लक्ष्मण जी को, को मरम बचन सीता जी ने कहे और उसे आघात भी पहुंचा व्याकुल भी हुए लक्ष्मण जी और फिर सीता जी के आग्रह करने पर फिर वो चल भी दिए वहां से और पूरा इंतजाम करके वहां से आए कि सीता जी की जो है रक्षा बनी रहे किसी प्रकार से लेकिन चले आने के बाद में यद्यप उसमें लक्ष्मण जी का दोष नहीं दोष सब तो सीता जी का है जैसे सीता जी ने कहा भी हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा सो फल पायू की रोषा <clears throat> लक्ष्मण सीता जी ने भी स्वीकार किया कि हमारा दोष है लक्ष्मण जी का इसमें कोई दोष नहीं है लेकिन लक्ष्मण जी सीता जी के दोष को डायरेक्ट नहीं बोलते ये नहीं कहते इसमें सीता जी का दोष है अपनी बात तो कह दी कि भाई हमारा इसमें दोष नहीं है और भगवान राम भी समझ गए इसमें इनका लक्ष्मण जी का दोष नहीं है तो किसका दोष हो सकता है कहे मोही कछु कहे ना तो कछु मोही न खोरी भगवान राम तब जल्दी में थे ही लक्ष्मण जी से इतनी बात रास्ते में करते हुए जल्दी जल्दी आगे आश्रम की तरफ बढ़े अन्य समेत गए प्रभु तहना गोदावरी तट आश्रम जयमा या <clears throat> आश्रम जी गोदावरी के किनारे था तो वहां पर जहां पर आश्रम था आश्रम तक भगवान जी लक्ष्मण जी के साथ में जल्दी जल्दी पहुंचे वहां वहां जाकर क्या देखते हैं आश्रम देख जाने की ही ना देखा आश्रम में सीता जी ही <clears throat> भय विकल जस प्राकृत दीना और भगवान राम व्याकुल हो मैंने सीता जी के बिना भगवान श्री राम जी बहुत व्याकुल हुए लेकिन व्याकुल भगवान कैसे हुए जैसे कोई नाटक करता है व्याकुल होने का अगर मान लो भगवान राम को आजकल जैसे रामलीला होती है तो रामलीला के नाटक होता है तो जो पात्र मान लो राम बनेगा तो वो क्या करेगा हम्म, सीता जी के हरण होने के बाद में फिर तो उसे रोना पड़ेगा तो कैसे रोना पड़ेगा कि भय विकल जस प्राकृत दीना प्राकृत मन जैसे संसारी व्यक्ति अज्ञानी संसारी व्यक्ति जैसे कि दुखी होते हैं ऐसे भगवान दुखी जैसे भगवान को दुखी होना चाहिए वैसे नहीं होते मन भगवान को दुख पर नहीं होता तो उसी बात की बस इसी बात के ऊपर है कि देखो ये भगवान रामाई की बात नहीं है इनका अपने वेदांत का मत भी ये है कि सदा ही अपने मन में शांत रहो परमात्मा भाव में स्थित रहो अपनी स्थिति गड़बड़ न होने दो <clears throat> बाकी शरीर से अपने व्यवहारिक जीवन में लीला करते रहो एक्टिंग करते रहो जहां जिस स्थान पर आए जो अपना कर्तव्य जो धर्म बनता है तो ऐसे करते रहो कि दूसरे लोग देख करके गलत अर्थ न लगाएं गलत अर्थ लगाने का मतलब ये है कि अज्ञानी व्यक्ति है तो उसको कहता है मुझे तो कुछ अब करने ही नहीं अब मुझे क्या जरूरत मैं तो आप काम तत्व हूँ तो दूसरे लोग तो समझेंगे ही नहीं आप काम है कि तत्व काम है कि आत्मज्ञानी है ब्रह्मज्ञानी है वो तो समझेंगे कि ये बड़े महात्मा है और ये कुछ करते करते नहीं तो हमको भी कुछ नहीं करना करना चाहिए ऊपर ही नकल करेंगे लोग इसलिए अन्य लोग भी सक्रिय बने रहें कार्य करने में अपने लगे रहें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे इसलिए ऊपर से नाटक करते रहें कि हमें भी बड़ा काम है हम तो बहुत बिजी हैं तुम कितने बिजी होगे तुमसे ज्यादा हम ज्यादा बिजी हैं ये दिखाए रहे ऊपर से ये नाटक करते रहे नाटक करना से आदर्श जब नाटक किया जाता है तब आदर्श नाटक होता है एक्टिंग जैसे कोई भिखारी भी बने तो ऐसा भिखारी बने कि आदर्श भिखारी अब एक्टिंग नाट की होगी चाहे पिक्चर में देखो चाहे कहीं नाटकशाला में देखो कि जब भिखारी बनेगा तो आदर्श भिखारी बनेगा बिल्कुल टिप टाप जैसे भिखारी होना चाहिए वैसे दुबला पतला हाथ में कपड़ा लिए हुए कमर झुकाए हुए <clears throat> बाल बढ़ाए हुए और मांगे हुए तो खुद दीनता के साथ मांगेगा और कहे मैं तो भूखा मरा जा रहा हूँ मैंने पंद्रह दिन से खाना नहीं खाया है जरा साथ दे दो प्राण बच जाएंगे ऐसे करके खूब एक्टिंग उसमें जो है वो मैं जैसे करे तब उसको भी अच्छी करे और राजा बना दिया जाए तो रोग के साथ बैठ के अकड़ करके दंड लेकर के आप हाँ, किसने कैसे क्या किसने आक्रमण कर दिया मेरे देश के ऊपर मैं उसका सत्या नाश हमें स्वतः करने लगे हाँ, तो जहाँ जिसकी जिसमें जिस काचिए तस चाहिए नाचा ये सिद्धांत है हम्म, ये वाल्मीकि ने जब आश्रम में भगवान राम गए तब वहां कहा कहा कि भाई आप तो जैसा आपने रूप धारण किया है वैसी एक्टिंग कर रहे हो और ऐसे ही करना ही चाहिए जस काछी जस काछी के मन जैसा जैसी एक्टिंग मिले हाँ? मान जैसा पाठ मिला काम करने के लिए बस चाहिए नाचा बस वैसे ही नाच नाचो वैसी एक्टिंग भी करो <clears throat> ये हर व्यक्ति को अपने अपने स्थान पर ऊपरी रूप से तो केवल एक्टिंग है और भीतरी रूप से अपने मन बुद्धि को शांति से आत्मभाव में रहे उसमें रंग मात्र भी बिगड़ाव ना लेकिन क्योंकि अपने अपने अंदर में शांत है आनंद स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप है इसके माने एक्टिंग ऐसी न करो कि जिसे देख करके दूसरे लोग जो है दुर्गुण सीखें दुर्गुणों की एक्टिंग मत करो सदगुणों की एक्टिंग करो उनको सदगुण में मैंने अपने कर्तव्य का है उस कर्तव्य की एक्टिंग करो अपने कर्तव्य को छोड़ करके चोरी डाका की एक्टिंग न करने लगो क्या हम तो अपने आत्मस्वरूप में स्थित है एक्टिंग कर रहे हैं चोरी करने की एक्टिंग कर रहे हैं डाका डालने की ये नहीं ये मनाही है इस प्रकार को नहीं बाकी ये ध्यान रखना पड़ेगा ज्ञानी व्यक्ति को कि समाज कल्याण किस एक्टिंग से समाज का कल्याण होगा समाज का हित हमारी एक्टिंग से किस प्रकार करने से होगा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा तो बस ये देखो बार बार अब जो है गोस्वामी जी किसी को शंका न हो मोह न उत्पन्न होने वाला यद्यपि ये अध्याय शुरू हुआ तो तभी सावधान कर दिया गोस्वामी जी ने कहा कि देखो जो अज्ञानी संसारी व्यक्ति होंगे भगवान की कथा सुन करके उनको तो मोह उत्पन्न होगा और जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे उनको उनका सुख प्राप्त होगा भगवान की कथा का आनंद उन्हीं को प्राप्त होगा तो अब यहाँ तुलसीदास ये ध्यान रखते हैं भाई किसी को मोह न होने पावे किसी की बुद्धि में ये ना आने पाओ अगर ये भगवान भगवान है तो ये किस प्रकार से रोड़ कैसे तो इस बात को स्पष्ट करते रहते हैं यहाँ भी भय बिकल जैसे प्राकृतिक ना ऊपर भी पहले वहीं से कह दिया बाह्य चिंता थी विषय थी चिंता भी की तो ऊपरी जबानी जवानी चिंता वाणी से भीतर चिंता नहीं करे इसी प्रकार भय विकल जैसे प्राकृत दीना और ऊपर से विकलता भी ऐसे दिखा दी जैसे कि बहुत ही कोई प्राकृत संसारी व्यक्ति हो यद्य काव्य की दृष्टि से ये दोष है काव्य की जैसे महाकाव्य का अगर कोई कवि हो तो ऐसी बातें नहीं बोलेगा कि ये सब ऊपरी बातें हैं इससे रसाभास हो जाता है रस भंग हो जाता है पाठक के हृदय में जो उसके रस का संचार होना चाहिए उसके मन में कहीं आ गया अरे ये तो नकल ऐसी बातें कर रहे हैं ऊपरी ऊपरी मन से कर रहे हैं तो उसके उसके अंदर मान लो भगवान राम रोते हैं आगे दुखी होते हैं तो दुख की बात सुन करके पाठक के मन में भी श्रोता के मन में भी दुख का संचार होना चाहिए तब तो काव्य की महिमा है और वहां भगवान रो रहे हैं पाठक सुन सुन सुन के हंस रहा है तो ये फिर ये है काव्य की दृष्टि से दोष है लेकिन तुलसीदास जी काव्य की उतनी परवाह नहीं करते और उसके दोषों की उतनी परवाह नहीं करते जितनी की पाठकों की परवाह करते कि वे लोग क्या सीख रहे हैं इससे अपने ग्रंथ से हमारे से साहित्य से इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं इसलिए जो है वह ये भी कह दिया कि भगवान ने ऊपरी ऊपरी चिंता की और प्राकृत पुरुषों जैसी चिंता की कि माने स्वयं वो प्राकृत पुरुष है नहीं और न उस प्रकार की उनको जो है वो चिंता है उनका दुख है उस प्रकार का लेकिन वो दिखाते हैं इस प्रकार से अब आगे तुलसीदास जी बिल्कुल जो अब भगवान राम विलाप करना शुरू करते हैं रोते हैं और सीता जी के वियोग में तो अब ये है जगह जगह इस प्रकार से रामचरित मानस महाकाव्य में श्रृंगार का भी वर्णन है और श्रृंगार में से ये विप्रलम्ब श्रृंगार कहलाता है वियोग का श्रृंगार जहाँ पर सीता जी भगवान राम के सीता जी कारण हुआ तो सीता जी भगवान राम के लिए रोती हैं तो ये भी उनका विप्रलम्ब श्रृंगार का भाग भगवान राम भी सीता जी कारण हो जाने पर भी रोते हैं तो ये उनका जो है ये उसी विप्रलम्ब श्रृंगार के अंतर्गत आता है तो आपको श्रृंगार की बातें कुछ करते हैं तो तुलसीदास जी श्रृंगार भी दुर्लभ श्रृंगार तुलसीदास जी का रटा है अपना नहीं है इन्होंने संस्कृत तमाम कवियों को पढ़ा कालदास आदि ग्रंथों को भवभूत आदि को पढ़ा तो उनमें जहां कहीं भी विप्रलम श्रृंगार उन्होंने पढ़ा और जैसा उन्होंने पढ़ा वैसे यहां यहाँ गढ़ा वैसे ही तुम उन्होंने वर्णन उसी प्रकार को कर दिया जिससे कि कार्य की पूर्ति हो जाए आप देखेंगे किस प्रकार की बातें भगवान राम बोलते हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि आप संस्कृत और ग्रंथ देखें तो वो बहु उसी प्रकार का अनुवाद मिलेगा आपको भगवान राम रोते हैं तो कहते हैं कि हाथ उन खान जाने की सीता ये बिलाप रोना क्या बिलाप कराता हाथ उन खान जाने की सीता ये जानकी हे सीता हाँ, तुम तो बड़ी गुण की खान हो कितने सुंदर तुम्हारे गुणों थे रूप शील वृत नेम पुनीता उनको याद याद करके फिर होते हैं भगवान कि तुम तो बड़े ही रूपमान थी तुम तो बड़ी शीलवान हो तुम तो बड़ी पाकव्रत हो बड़े नियमों का पालन करने वाली पवित्र तुम्हारा बड़ा आचरण स्वभाव है ऐसी तुम सीता हो और <clears throat> अब तुम कहाँ हो प्रकट क्यों नहीं होती दिखाई क्यों नहीं देती लक्ष्मण समझाए भगवान की जब भगवान ऐसे रोने लगे तो लक्ष्मण जी उनको समझाने लगे लक्ष्मण जी तो साथ में थे कहते भगवान कि आप इतना ज्यादा क्यों दुखी होते हो सीता जी कहीं यही होंगी अरे गोदावरी जी ज्यादा पानी लेने गई होंगी अगर बहुत प्यास लगी होगी तो चलो गोदावरी जी तक तो चलते हैं यहाँ पर हो सकता है कहीं की और कहीं कंदमूल फल वगैरह कहीं लेने इधर उधर कहीं चली हुई हो तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है अरे हम ढूंढते हैं आप भी ढूंढो आप इधर ढूंढो हम इधर ढूंढते हैं अभी कहीं ना कहीं होंगे मिल जाएंगे अरे कोई मुसाफिर भी ले जाएगा तो कहाँ ले जाएगा अभी आप इसको लक्ष्मण जी ने क्या समझाया देखना हो तो यही वाल्मीकि रामायण देखो पद्म पुराण देखो अध्यात्म रामायण इन रामायणों दूसरी जगह ये सब विस्तार में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ है यहाँ संक्षेप में है तो लक्ष्मण जी ने ये सब बातें समझाई और लक्ष्मण जी ने आश्वासन भी दिया भगवान को अरे आप कहते हो कि निशाचर ले गया हूँ तो ले जाएंगे निशाचर अगर पाताल में भी ले जाकर रखेगा कोई तो हम वहां भी नहीं छोड़ेंगे हम उसको वहां से मार करके सीता जी को लाएंगे आप क्या बात करते हैं इतने रोने क्या जरूरत ऐसा करके लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रार्थना की कैसे नहीं हो लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण जी की एक बात नहीं सुनी वो तो बहुत दुखी थे भाई वो लक्ष्मण जी को समझाने से कैसे मान जाते तो भगवान कहते हैं कि हे खगमर हे मधुकर श्रेणी ये सब अब भगवान विलाप करते करते जैसे कोई पागल हो जाए ऐसे करके हे खगमर्ग अब वहां किससे कि कौन सीता जी कहा चलेंगे तो हे पक्षियों हे मृत पशु पशुओं अब बन, बन के तुम लोग बताओ कि सीता जी को कौन ले गया हे मधुकर श्रेणी भवरे फूलों को पवन रात को तुम बताओ कि सीता जी को कौन ले गया कहाँ गई है तुम देखी सीता मृगमैनी तुमने मृगमैनी सीता को कहीं देखा कहाँ गई होंगी <clears throat> मैंने उनकी सीता जी की सुंदरता भी बहुत याद आ रही है मृग नैनी है मृग जैसे उनके नेत्र है इसलिए बड़ी सुंदर और सीता जी को कौन ले गया है कहाँ गई है अब तुम तो भी बताओ अब उसके बाद में देखो ये ये अनुवाद है संस्कृत के कवियों का खंजन सुख कपोत मीना और मधुक निकर कोकिला प्रवीणा कुंद कली दालिन दामिनी कमल शरद सस अहि भामिनी वरुण पास मनोज धनुहंसा गज के हरिणी सुमित प्रशंसा ये सब लोग जितने नाम गिनाए ये सब अब प्रसन्न हो रहे हैं अपनी प्रशंसा अब कहते हैं जब तक सीता जी यहाँ थी तब तक इन सब लोगों की कोई प्रशंसा नहीं सीता जी के सौंदर्य के सामने इन सब की कोई कीमत नहीं थी लेकिन जब से सीता जी अब यहाँ से नहीं दिखाई देती चली गई तो ये सब के सब बहुत खुश है क्योंकि अब अब इनकी प्रशंसा अब जब इनसे ज्यादा गुणवान रूपवान कोई नहीं होगा तब इन्हीं की प्रशंसा होगी इसलिए खुश याद कही सीताई चलो अब हमारी प्रशंसा होगी ऐसे करके ये सब प्रसन्न है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार इत्यादि है इस प्रकार के अहंकार के अंतर्गत भी आते हैं तो ऐसी करके संस्कृति कन्या ने भी कहा वैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं ये सब सुनत प्रशंसा और श्री फल कनक कदल हर साई ये सब सब प्रसन्न है समय हर्षित है ये और नेक न संक सकुच मन माही अब इनको कोई संकोच नहीं कोई शंका नहीं पहले संकोच इनको लगता था अरे हम चाहे जितने सुंदर हो हमारी सुंदरता कौन देखेगा सीता जी के सामने ऐसे करके ये संकोच इनको लगता था इन सब <coughs> जितने भी गिनाए हैं ये सब जो है <coughs> सुंदर स्त्रियों के विभिन्न अंगों की सुंदरता का वर्णन करने के लिए ये इन सब का प्रयोग किया जाता है आज हाँ, जहाँ पर उस प्रकार का जहाँ श्रृंगार रस की बातों में जहाँ पर उनके श्रृंगार का वर्णन किया जाता है स्त्रियों का तब इन्हीं के समसाप समान उनकी तुलना दी जाती है खंजन के समान नेत्र हैं सुख के खंजन यानी खंजन पक्षी जानते हैं सुख वन तोते के समान नासिका है कपूत के समान उनकी गर्दन है कपूत के कबूतर हाँ, मृग और मीना मृग के समान उनके नेत्र हैं और मछली के समान उनके नेत्र चंचल हैं नेत्र तो में चंचलता बतानी हो तो मृग के नेत्रों से काम नहीं चलेगा मैं मृग की मृग मृगी के नेत्र तो बहुत सुंदर होते हैं <clears throat> लेकिन अब चंचल नहीं होते अब चंचलता बतानी हो तो कहें कि भाई नेत्र तो ऐसे मछली भी आखिरी सी होती है तो कहते देखो जैसे मछली चंचल होती है इस प्रकार से नेत्र चंचल <clears throat> मधुप निकर मधुप निकर्मन मधुर मधुपों का समूह ये भी उनकी जो है मधुप समूह केश जो है वो काले केश उनकी तुलना जो है जैसे कि लो मधुप हो उनका निकर हो कोकिला प्रवीणा वाणी कैसी सुंदर है जैसे कोयल बोलती हो इस प्रकार की सुंदर वाणी है ये सब उनके सब गुण वर्णन करने के लिए उनके उदाहरण भिन्न भिन्न ये सब उदाहरण है सब ये इनके दे दे करके उनको सम, समानता बता बता करके उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं ऐसी कुंडकली के समान सुंदर स्वरूप दानिंग माने अनार की तरह से जिनकी की बात दामिनी बिजली की जैसे चमकने वाली जैसे जिनकी की हस्ती है जैसे वो बिजली चमकती हो इस प्रकार के कमल शरद शशि शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर हाथ हैं कमल के समान सुंदर पैर है कमल के समान सुंदर ऐसे करके करते हैं शशि से उदाहरण देते हैं चंद्रमा के जैसा मुख है पूर्णिमा का चंद्रमा जैसा है ऐसे उदाहरण आई भामिनी आई भामिनी मन सर्प की भावनी सर्प की भामिनी मन सर्पणी सर्पणी के समान छोटी सिर के जो बाल है ऊपर सिर के ऊपर रखे हुए जितने बाल है वो तो सांप के फन के